परम पिता परमात्मा का स्मरण सम्मान पूर्वक विधान करने वाले परमात्मा प्रणाम ओ धर्म प्रेमी सज्जनों परम पिता परमात्मा को हम अपना विधाता स्वीकार करते हैं परमात्मा ने हमारे लिए विधि निर्देश किया है मनुष्य मनुष्य जीवन हम कैसे चलाएं उसकी विधि वेद में प्रदान की है और उसके अनुरूप ही वो हमारा अनुशासन करता है हमारा न्याय करता है परमात्मा की विधि कैसी है ये बात आज के संबोधन में दी गई है महर्षि लिखते हैं विनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र के व्याख्यान में हे विनय विधि प्रद विनय विधि प्रद विधि संविधान नियम उसको देने वाला विधि हमें धारण करती है हमारे हित के लिए होती है तो परमात्मा विधि को देने वाला है लेकिन वो विधि कैसी है तो कहा विनय विधि प्रत विनय का मतलब होता है विनम्रता शिष्टता शिष्टाचार से युक्त जब हमारा व्यवहार होता है वो विनय युक्त व्यवहार होता है किसी के प्रति जब हम झुकते हैं उसे विनय कहा जाता है तो दूसरे का सम्मान रखना उसके प्रति विनम्रता और यही शिष्टता भी कहलाती है प्राय विनय या विनम्रता हम बड़ों के प्रति रखते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं जो हमारे लिए संसार के लिए समाज के लिए हितकर होते हैं उनके प्रति योग्य भाव सम्मान का भाव ये विनम्रता है और उस भाव के अनुरूप उनको अभिवादन करना उनको सहयोग करना उनको कुछ देना उनके कार्यों को करना इत्यादि विनय के अंतर्गत आते हैं परमात्मा विनय विधि प्रत है विनय की विधि को देने वाला है विनम्रता शिष्टता की विधि को देने वाला है महर्षि दयानंद के जिस ग्रंथ को हम देख रहे हैं उसका नाम भी आर्याभिविनय है आर्यों की अभिविनय विनम्रता परिपूर्ण विनम्रता परिपूर्ण शिष्टता क्या होनी चाहिए वो महर्षि ने वेद मंत्रों के माध्यम से हमारे लिए रखा आर्यभ्य विनय में परमात्मा के प्रति हमारी विनय कैसी हो परमात्मा के प्रति हमारी शिष्टता कैसी हो उसी का वर्णन किया गया और उस समस्त विनय का वर्णन वेद मंत्रों के माध्यम से किया गया है वेद मंत्रों का उपदेश परमात्मा ने हम आत्माओं के लिए मनुष्यों के लिए किया है तो महर्षि दयानंद ने जो विनय अभिविनय श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए दी है श्रेष्ठ व्यक्ति इस प्रकार की विनय परमात्मा के प्रति रखते हैं रखनी चाहिए और जो परमात्मा के प्रति इस प्रकार की विनय रखता है वो आर्य श्रेष्ठ मनुष्य बनता ही है तो ईश्वर के प्रति कैसी हमारी विनय हो ये स्वयं परमात्मा की दृष्टि से क्या हो सकती है वो महर्षि ने इस ग्रंथ में प्रस्तुत की है और प्रथम मंत्र से लेके अंतिम मंत्र तक जितने भी व्याख्यान हम देखेंगे जितने मंत्रों का उन्होंने चयन किया है उनमें दो बातें व्यापक रूप से हैं एक है परमात्मा की स्तुति परमात्मा की प्रशंसा और दूसरा है परमात्मा की प्रार्थना परमात्मा हमारे लिए क्या क्या करता है सबका उल्लेख करते हुए उनको गिनाते हुए परमात्मा की स्तुतियां की गई हैं अधिकांश मंत्रों में अधिकांश व्याख्या में परमात्मा के उन गुणों को लिया है जो हमारे से सीधे संबंधित हैं और उसका भी वो अंश कि परमात्मा हमारे लिए क्या क्या करता है परमात्मा हमारे लिए क्या क्या करता है इसको गिनाते हुए परमात्मा की प्रशंसा की गई है आप ये देने वाले हैं हमारे लिए ये करने वाले हैं तो स्तुति वास्तव में यथार्थ ही होनी चाहिए यथार्थ ही होती है परमात्मा हमारे लिए जो कुछ करता है उसे स्मरण रखना परमात्मा के किए हुए को स्वीकार करना ये एक बहुत बड़ा गुण है आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे हम कृतज्ञता के नाम से भी बोलते हैं अन्य व्यक्ति ने हमारे लिए जो किया है उसको जानने वाला कृत को जानने वाला कृतज्ञ दूसरे के द्वारा हमारे लिए जो जो किया गया है उसको वो अनुभव करता है अच्छी तरह से जानता है और तदनुरूप जो भाव पैदा होता है देने वाले के प्रति वो विनम्रता होती है उनके प्रति सम्मान की भावना होती है उनके प्रति अतिशिष्टता का व्यवहार होता है उनका सत्कार होता है उनका अभिवादन किया जाता है तो कृतज्ञता के साथ में विनम्रता और विनय जुड़ी हुई है इन समस्त वेद मंत्रों में जो आर्य विनय दी में दिए गए हैं अथवा अन्य भी जो बहुत सारे मंत्र हैं उन अधिकांश मंत्रों में बार बार भिन्न भिन्न शैली से भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से परमात्मा की स्तुतियां की गई हैं वो स्तुति किस लिए है परमात्मा को स्तुति की आवश्यकता है वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है इसकी तो आशंका भी नहीं है लेश भी नहीं है लेकिन हम मनुष्य परमात्मा की स्तुति करें क्यों करें परमात्मा के प्रति प्रीति पैदा करने के लिए परमात्मा हमारे लिए क्या क्या करता है ये हमें कौन बताएगा यदि परमात्मा इन सब को वेद मंत्रों में न बताता तो हमें कैसे पता लगता ये परमात्मा करता है और यदि हमें परमात्मा के किए हुए का ज्ञान न होता तो हमारी स्थिति क्या बनती हम कृतज्ञ नहीं हो सकते थे किए हुए को जानना किए हुए को जानने वाला कृतज्ञ कहलाता है हम कैसे जानते कि परमात्मा ने ये सब किया है आज बिना वेद के पढ़े भी हमें परंपरा से बहुत सारी बातें माता पिता से गुरुजनों से मिलती रहती हैं ज्ञात होती हैं लेकिन उनको भी ये सब बातें कैसे पता लगी उस पिछली परंपरा को देखते जाएं देखते जाएं तो अंत में परमात्मा ही वहां पर मिलेगा वेद ही वहां पर मिलेंगे जिन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया परमात्मा यदि वेद मंत्रों में ये सब नहीं देता तो हम किए हुए को परमात्मा के किए हुए को नहीं जान सकते थे और यदि हम उसे नहीं जानते तो हम कृतज्ञ नहीं होते और कृतज्ञ नहीं होते तो विनम्रता और विनय हमारे अंदर नहीं आ सकते थे जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति जितना कृतज्ञ होता है वो परमात्मा के प्रति उतना ही विनय से युक्त विनम्रता से युक्त शिष्टता से युक्त होगा वो परमात्मा के प्रति अशिष्टता कर ही नहीं सकता जैसे जैसे हमारी कृतज्ञता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी शिष्टता भी बढ़ती जाती है तो परमात्मा ने वेद मंत्रों में जो अपना वर्णन किया है मैं ऐसा ऐसा करता हूं परमात्मा की जो स्तुतियां हैं वो हमें कृतज्ञ बनाने के लिए और महर्षि दयानंद ने नास्तिकों के लिए परमात्मा को न स्वीकार करने वालों के लिए बहुत कठोर शब्द भी कहे हैं उनको मूर्ख कहा है अविद्वान कहा है और उनको कृतज्ञ कहा है कृतज्ञता एक बहुत बड़ा दोष है कृतज्ञता के रहते कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता आध्यात्मिक प्रगति की छोड़िए लौकिक व्यवहार भी उसका ठीक नहीं हो सकता जीवन में हम जिन जिन से जो प्राप्त करते हैं सकाम या निष्काम देने वाले ने भले ही सकाम दिया हो चाहे निष्काम दिया हो तो भी उसके प्रति कृतज्ञता एक व्यवहार कहलाता है दुकानदार ने पैसे लेके हमें वस्तु दी है हमने मूल्य चुकाया है लेकिन उसके बाद भी एक शिष्टता होती है धन्यवाद देने की क्योंकि अगर वो विक्रेता ना होता तो हम धन मात्र से उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते थे उस वस्तु के हमारे तक पहुंचने के क्रम में बहुत लोगों का सहयोग और श्रम रहा है उनको उनका प्रतिफल मिला लेकिन फिर भी हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव यदि रहता है तो हमारी आंतरिक स्थिति अधिक अच्छी रहती है लोगों के मन में हमारी स्वीकार्यता अधिक होती है ये कृतज्ञ है यदि हम सहयोग देने वाले के प्रति कृतज्ञता नहीं रखते हैं तो अगली बार सहयोग देने से पूर्व विचार करेगा ये सामने वाला व्यक्ति विनम्र नहीं है कृतज्ञ नहीं है और उसका प्रतिफल ये मिलता है कि कृतज्ञ व्यक्ति के सहयोगियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है जो निष्काम भाव से भी सहयोग कर रहे थे उनको भी पीछे हटते देखा जाता है तो चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए कृतज्ञता को हटाते हुए कृतज्ञता को लाना और कृतज्ञता से फिर ये विनय पैदा होती है शिष्टता पैदा होती है इसलिए भी विनय और अधिकांश वेद मंत्रों में जो परमात्मा की स्तुतियां हैं वो हमें कृतज्ञ बनाने के लिए है हमारे अंदर विनय देने के लिए है और इन सबको करते हुए परमात्मा विनय की विधि कर रहा है मंत्रों में जो विधि की गई वो विनय की विधि है अगर हम समस्त विधानों को देखें तो उस तरह के विधान के निदेशा निर्देश किए गए हों ये करना है ये नहीं करना है उनकी सूची हम वेद में बनाए तो अपेक्षाकृत बहुत कम है उसकी अपेक्षा परमात्मा की स्तुतियां ही अधिक हैं वेद परमात्मा का विधान है विधि है हम मनुष्यों के लिए वो विधि विनय से युक्त है वो विनय की ही विधि है हम कैसे विनय युक्त हो जाएं बस यही सारा विधान है लोक में जो विधि विधान देखे जाते हैं उसमें विनय के लिए स्थान नहीं है किसी भी देश का संविधान देख लीजिए ये करना है ये नहीं करना है अगर ये विपरीत कर्म करेंगे तो ये दंड निश्चित किया गया है बस यही विधि विधान है संस्थाओं के भी विधि विधान इसी प्रकार के देखे जाते हैं आपको ये करना है और ये नहीं करना है और ये नहीं करेंगे तो ये दंड होगा ये भले ही लिखा ना गया हो लेकिन वो बताया जाता है तो लोक की जो विधियां हैं वो विनय की विधियां नहीं है ईश्वर ने जो विधि प्रदान की है वेद प्रदान किया है वो विनय की ही विधि है और इसीलिए महर्षि ने सार रूप में कुछ मंत्रों को चुन करके आर्यों के अभिविनय का विधान किया वही विधान यहां प्रस्तुत किया तो परमात्मा विनय की विधि करता है विनम्रता की विधि करता है शिष्टता की विधि करता है कृतज्ञता की विधि करता है परमात्मा के जितने विधान हैं उनमें देखा जाए तो सबसे अधिक विधि इस विनय की ही की गई है विनय की विधि अर्थ अगर हम रखें तो विनय के अभिन्न अर्थ लेते हुए भी हम विनय की विधि का अर्थ कर सकते हैं तो विनय का एक अर्थ तो शिष्टता विनम्रता ये आपके सामने रखा विनय का एक दूसरा अर्थ भी होता है धार्मिक कार्यों में धर्म कार्यों में कुछ प्रदान करना धर्म के लिए कुछ देना उसे विनय कहते हैं प्राचीन संस्कृत में इस अर्थ का प्रचलन रहा जो कि हमें महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी से पता लगता है उन्होंने एक सूत्र बनाया सम्माननोत संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययेशु निय व्यय अर्थ में भी नी धातु से वहां पर प्रयोग बनाया और व्यय का अर्थ क्या किया गया धर्म के कार्य के लिए कुछ प्रदान करना ये विनय है धर्म के कार्य के लिए प्रदान करना ये विनय शब्द का अर्थ है अब परमात्मा विनय विधि प्रत है विनय की विधि को देने वाला है अर्थात धर्म के कार्यों में हम कुछ प्रदान करें इसकी विधि देने वाला है धर्म के कार्यों के लिए धन दें धर्म के कार्यों के लिए सेवा दें धर्म के कार्य के लिए समय दें धर्म के कार्य के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ज्ञान का प्रयोग करें जो भी करें वो धर्म के लिए करें और धर्म का मतलब होता है जो धारण करने वाला है समस्त प्राणियों का जो धारण करने वाला है हित करने वाला है उनको आधार प्रदान करता है उसे धर्म कहते हैं परमात्मा की जितनी विधियां हैं उसमें केंद्र में ये बात विद्यमान है धर्म के लिए विधि है वो अधर्म के लिए नहीं है लोक में देने की बात दान देने की बात बहुत व्याप्त है लोग देते रहते हैं बहुत भावना से देते हैं उसे धर्म समझते हैं उसे परमात्मा का आदेश विधि भी समझते हैं लेकिन किसे दिया जा रहा है इस पर कम विचार करते हैं जिसे दिया जा रहा है उससे धर्म की वृद्धि हो रही है या नहीं यदि हमारे देने से धर्म बढ़ रहा है तब तो परमात्मा की विधि के अनुरूप हमने दिया है यदि हमारे देने से अधर्म की वृद्धि हो रही है अन्याय अत्याचार की वृद्धि हो रही है पक्षपात की वृद्धि हो रही है तो ये परमात्मा की विधि नहीं है ये विनय की विधि नहीं है परमात्मा विनय विधि प्रद है उसके समस्त विधान मात्र धर्म की वृद्धि के लिए हैं इसको दूसरे शब्दों में हम कहें हमारे प्रत्येक कर्म से धर्म की वृत्ति होनी चाहिए बस यही वेद का विधान है धर्म की रक्षा होनी चाहिए बस यही वेद का विधान है दूसरे शब्दों में हमारे जिस जिस कर्म से धर्म की वृद्धि धर्म की रक्षा हो रही हो उसे ही हम विनय की विधि कह सकते हैं परमात्मा की विधि कह सकते हैं इसके विपरीत जो हो रहा है वो गलत है तो परमात्मा विनय विधि प्रत है विनय की विधि करता है अर्थात धर्म के कार्यों में देने की विधि करता है और जो व्यक्ति धर्म के कार्यों में वृद्धि के लिए रक्षा के लिए सहयोग नहीं करता है जो उसकी सामर्थ्य है धन पद प्रतिष्ठा सेवा ज्ञान समय कुछ भी जो जिसके पास में है जो व्यक्ति इसको नहीं करता है उसकी कोई प्रगति नहीं हो सकती ना आध्यात्मिक और ना वास्तविक लौकिक उन्नति तो परमात्मा विनय विधिप्रत है विनय का एक और तीसरा अर्थ विशेष रूप से ले जाना विशेष दिशा में ले जाना विशेष लक्ष्य की ओर ले जाना ये विनय है विशेष जगह पर पहुंचाना ये एक विनय है ले जाना जाना पहुंचना प्राप्त होना परमात्मा की जितनी विधेय है वो विनय से युक्त है हमें किसी विशेष दिशा में ले जाने के लिए है किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए है वो विधि सोच विचार करके ऐसी बनाई गई है कि हम वहां तक पहुंच सके और वो लक्ष्य है परमात्मा की स्वयं की प्राप्ति आत्मा की अंतिम इच्छा की पूर्ति उसको दुख रहित सुख की प्राप्ति हो मोक्ष की प्राप्ति हो वही हमारे लिए प्राप्य है उसी दिशा में परमात्मा हमें ले जा रहा है उसके समस्त विधान ऐसे हैं कि हम उसी ओर बढ़ेंगे कितना भी हम गलत करें अधर्म करें लेकिन फिर परमात्मा वहीं पहुंचा देगा उसी ओर बढ़ने वाले रास्ते पे हमें फिर लाके खड़ा करेगा हम फिर भटक जाते हैं फिर वो हमारे कर्मों का यथा योग्य फल दे करके फिर वहीं पर लाने का प्रयास करता है उसकी समस्त विधि व्यवहारिक और उपदेश एक ही लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए है इस दृष्टि से भी परमात्मा विनय की विधि को देने वाला है विनय विधि प्रद है विनय शब्द को जब हम परमात्मा के साथ में जोड़ेंगे विनय से युक्त विधि करने वाला वो परमात्मा जो विधि करता है विधान करता है वो विनय से युक्त होके करता है विनय पूर्वक विधान करता है संसार के विधान तो आक्रामक प्रतीत होंगे आदेश ऐसा दंडे के साथ में दंड परमात्मा के पास भी है वो भी दंड देता है लेकिन फिर भी उसका विधान विनय शिष्टता से युक्त है विनम्रता से युक्त है परमात्मा का व्यवहार हमारे प्रति आक्रामक नहीं है हम जब भी किसी विधि विधान को सुनते हैं तो अपने को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाते हैं बचने की स्थिति में पहुंचा लेते हैं कि सामने वाला कोई व्यक्ति या कोई संस्था कोई राज्य विधान ला रहा है जैसे हमारे पे नियंत्रण कर रहा है हमारी स्वतंत्रता को छीन रहा है और ऐसा ही हम परमात्मा के प्रति भी विचार करने लगते हैं कि परमात्मा ने जो विधि विधान किए हैं जैसे हमें जकड़ के रख दिया है पाप और पुण्य को ऐसे बांध दिया है व्यक्ति को डर लगे ये करो नहीं तो ये चीजें नहीं मिलेंगी ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेंगे ये दुख मिलेगा ये जो लोक व्यवहार में विधि विधान होता है उसके प्रति हम एक डर का भाव रखते हैं उसे हम आक्रामक समझते हैं वो हमारे को नियंत्रित करने वाला है हमारी इच्छा के विपरीत हमें नियंत्रित करने वाला है हमारी स्वतंत्रता को छीनने वाला है और अधिकांश लौकिक विधि विधान ऐसे ही होते हैं और लोक व्यवहार के लिए वैसा करना भी होता है लेकिन परमात्मा की विधि परमात्मा का विधान आक्रामक नहीं है हमें नियंत्रित बांध देने वाला नहीं है जकड़ देने वाला नहीं है और दूसरे शब्दों में कहें हमारी स्वतंत्रता को छीनने वाला नहीं है और दूसरे शब्दों में कहें हमारी इच्छा के विपरीत नहीं है परमात्मा के विधान में मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी गई है हम चाहे गलत भी कर रहे हो परमात्मा आके हाथ नहीं पकड़ता ये उसकी बहुत बड़ी विनय है वो रोक सकता है अनेक व्यक्ति समाज के अन्याय अत्याचार को देखते हुए परमात्मा पे आक्षेप भी करते हैं कि परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है इनके अन्याय अत्याचार को देख रहा है जान रहा है तो इन्हें रोक क्यों नहीं देता है हमें पीड़ित होना होता है लेकिन ये परमात्मा पर आक्षेप नहीं होना है परमात्मा की विधि विनय से युक्त है वो हमारी स्वतंत्रता का मान करता है करते समय नहीं रोकता है अंदर दिशा निर्देश कर देगा विचार दे देगा लेकिन हाथ नहीं रोकेगा चाहे कितना भी हम बुरा काम करें हमारे पैर नहीं रोकेगा जबकि लौकिक विधि विधान में यदि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो आरक्षी बल का व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास करेगा रोकता है वो लोक व्यवहार के लिए ठीक है लेकिन परमात्मा ने विधान किए हैं पर इतनी स्वतंत्रता भी दी है आप कुछ भी कर सकते हो हम सकाम भी कर सकते हैं और निष्काम भी कर सकते हैं यह भी बड़ी स्वतंत्रता दी है सकाम में भी किस चीज की कामना हम करें हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें क्या मिले किस प्रकार का फल हम चाहते हैं किस रूप में फल चाहते हैं ये भी उसने स्वतंत्रता प्रदान की है बंधन नहीं है वहां पर मिलेगा उतना ही जितने हमारे कर्म हैं जितने शुभ कर्म हैं लेकिन क्या मिलेगा ये फिर हमारी स्वतंत्रता है यदि कोई आत्मा ये चाहता है कि मैं तो संसार में इसी प्रकार रहूं इंद्रियों के सुखों को भोगता रहूं इस सकाम रूप से कर्म करता है तो उसको वो देता रहेगा कभी नहीं रुकेगा लगातार उसको अवसर देता रहेगा ठीक है ये विनय से युक्त विधि है अविनय की स्थिति में व्यक्ति दूसरे को रोक देता है अविनय की स्थिति में बांध देता है कि इस पुण्य का फल आपको बस यही मिलेगा आपको चाहिए तो लीजिए नहीं तो मत लीजिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है फल चुनने में भी ये भी परमात्मा की विनय है बहुत बड़ी विनय है परमात्मा विनय विधि प्रत है परमात्मा विनय की विधि करता है परमात्मा विनय से युक्त होकर विधि करता है विनय के द्वारा विधि करता है वेद मंत्रों में कहीं हम देखें हमारे प्रति क्या आक्रामकता परमात्मा ने दी है दुष्टों के लिए विधान किया है कि दुष्टों को हम नष्ट करें अन्याय अत्याचार हटाएं और परमात्मा के ऐसे विधान भी विनय से युक्त हैं शिष्टता से युक्त हैं हित की कामना से युक्त हैं तो परमात्मा के प्रति विनय का भाव शिष्टता का भाव जो परमात्मा हमारे में लाना चाहता है वो आ सके विनय अर्थात धर्म के लिए ही हमारा कुछ भी कर्म हो धर्म की स्थापना के लिए धर्म की रक्षा के लिए उसके हित के लिए न्याय अन्याय पक्षपात हटाने के लिए ये हमारे कर्म हो यही परमात्मा की विधि है और यदि हमें ये सूत्र समझ में आ जाए तो हमें एक एक विधान जानने की भी आवश्यकता नहीं है हमें विनम्रता रखनी है शिष्टता रखनी है देने वाले के प्रति कृतज्ञता रखनी है ये एक गुण आ जाए तो बहुत व्यवहार ठीक हो जाएंगे और जो नए कर्म हमें करने हैं वो धर्म की वृद्धि के लिए ही करने हैं उन चीजों के लिए ही करने हैं जिससे संसार का धारण होता है हमारे कर्मों का निर्णय हो गया हमें क्या करना है जिस चीज से अधारण हो रहा हो हानि हो रही हो आत्माओं की वो नहीं करना है हमें निश्चय हो जाएगा ऐसे बहुत से विधान जो सीधे सीधे वेद मंत्रों में नहीं दिए गए हैं वहां गिनाए नहीं गए हैं सब बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन फिर भी प्रत्येक बात तो नहीं लिखी है उन सब स्थलों पे हम ग्रंथ के आश्रित नहीं हो सकते ग्रंथ में यदि ये लिखा है तो ही हमें करना है नहीं तो नहीं करना है वेद में लिखा है तो करना है नहीं तो नहीं करना है ऐसा वेद बनाया ही नहीं है परमात्मा ने ऐसा वेद दिया ही नहीं है तो हमें ये तो निर्णय करना ही होता है कि ये कर्म मैं करूं या ना करूं और जिन व्यक्तियों ने पूरी तरह वेद नहीं पढ़े कर्म को करना है कार्य को करना है अब उसमें वो वेद के पास कैसे जाएगा कैसे ढूंढेगा और जिन्होंने वेद को नहीं भी पढ़ा है मात्र उपदेश सुने हैं कुछ कुछ पता है वेद की भाषा नहीं जानते वेद की व्याख्याओं को भी वो नहीं समझ पाते वो कैसे निर्णय करें तो उसका एक ये तरीका है परमात्मा के विधान को समझ लेना परमात्मा की विधि है क्या परमात्मा की विधि किसके लिए है तो यदि ये हमें समझ में आ जाए कि परमात्मा विनय विधि प्रद है तो विनय के जो अनेक अर्थ हमें उपलब्ध होते हैं उन सब की दृष्टि से देखें तो हमारे सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और परमात्मा को विनय विधि प्रद मानने से परमात्मा के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञता विनम्रता हमारे अंदर पैदा होती है उसके विधान कैसे हैं इसलिए महर्षि दयानंद ने यहां ये संबोधन दिया और ये विशेषण लगा करके दिया ये विनय शब्द बहुत विशेष लगा के दिया है नहीं तो विधि प्रद इतने मात्र से भी काम तो चल ही जाता ये सारी व्याख्याएं भी उसमें ली जा सकती थी परमात्मा विधि प्रद है लेकिन विनय शब्द को बताने के लिए विशेष रूप से कथन किया गया है महर्षि के उस दृष्टिकोण को इस आर्य विनय को उनकी व्याख्या को हम जब देखते हैं तो सब कुछ यही प्रतीत होता है जैसे कि वो इसी की व्याख्या कर रहे हो कि परमात्मा विनय विधि प्रद कैसे है परमात्मा के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ